कोई राजी खुशी लेना चाहो जरा तो मैं को दे दूं बड्डा को दे दूं आंख लाल कर मारू बात करो हम्म। तो नहीं तो आपने अठा को दूं और नहीं आपने बठा को दूं देखो क्षण मैं बठा को ले लूं लीर अठा को ले लूं लीर तनी है राज दूं आप फोटो राज करेंगे मैं काहे जानू मैं तो मिनिंग मर जाओगे तो भाई काहे करेगा थे छोड़ क्यों करो तो भाई काहे तू पैसे लेकर मांगे घर में राज का नाम मत लो तो तुम नौकर बन जाओ राजा में बन जाओ के कांकरो कांकरो देखो माता जी औलाद क्या करेगा जो के आदमी के औलाद जन्मे हाँ। बाप दुनिया में नाम करे अगर ना जो आदमी के औलाद जन्मे कुल नाम करे तो औलाद तो ये माँ की है हाँ, माँ जिससे तो क्या करे माँ पर पूत पिता पर घोड़ा घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आई समझ में तो है तो ढीला हटाना था रही बापड़ा पहली गया पर नौकरी में राजकरण जोगा क्यों नौकरी नहीं करे तन ना चोरे थोड़ी करे चोरे छाती के पान में करे जो जेल में जावे नौकरी करे जब जो दापर खावे चोरिया करे जब मैं आपने कहूं राज नहीं देऊं नहीं देऊं नहीं देऊं मैं राज ले छोड़ूं ओ लो देख गोपचन मैं देखूं बैठो है काई क्यों एक झापड़ की ठोकी पता लग जाए देख लियो अतीक तो है इंडिया जीती तो हमारे थपड़ दे ली हां ಕುರುಗುಟದ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ अब लड़ो मत ना गिकड़ हो गई तो मैं थारे वास्ते फूल भेजा कौन होगा हमारे वास्ते मैं थारे वास्ते केक भी ओहो भगवान श्री रामचंद्र जी ने 12 साल को वनवास दे बा केक बा हां पर आपने मालूम थे मारे वास्ते केक भी पैदा होगा हाँ। तो था वास्ते मैं कौन पैदा हूं कौन है वो तो द्रौपदी कौन ठंडी दुर्योधन वो तो मैं हूं इनका दुर्योधन कह देखो आ जाओ गोगत कंबरी और राम मगर राज आता है कौन आता है तो माता जी मांगियोड़ो राज कौन आता है राज आता है तो बहादुरी के पान आता है मैं तो यहाँ को यहाँ राज ये ध्यान करो डांडी के पल शेर बांध छाती में दमेड़ा खाओ और राज और राज और राज छाती में दमेड़ा तो तू खाए गोपचन <laughs> देखो राज मांगवा शर्म को जा रही लोगों की नौकरी करो पोठा थप्पड़ लोगों में पोठा कड़ी अपनी टेक भारी ए पांडु सुत ओ भ्रष्ट साधु तो बेजा दुष्ट दिशा कुब दांती निपड़े के हाँ। हाँ। कृष्ण भगवान खूब आपकी खूब दागरी खूब चालांगरी बाकी राज तो जीता जीता दियो मार दियो कुटुंब को नाश कर दियो बाकी राज तो कौन दियो कौन दियो चल यान करो एक राज कागज में लिख लियो हाँ। राज राज राज ये लिख लियो थे राज करो जान की था आई क्या हां हां मैं राज करा रहा हूं क्या तो था खटी दो नहीं जो था क्या क्या यान गया मैं राजा मां की दो नहीं देंगे उन्हें ठगा राजा मां चल पड़ गया राजा ए तेरा तुरी होते ना ये करना मानिए छीन बैठो रत तो धानिए यो अमर निशानी है मौसी वो समझ दुर्योधन मोरती भर मेरा दिल भगवान रहे मारी बहन तो हे भगवान कटे हे बा बाहर है भेज दे मारी मारे आ अलकारा जी काई कियो चल चल बे साना ये लड़ाई कौन कर बात चमती है जी जी भाई से प्रणाम स्वीकारो ओहो आ भाई जी आ भाई जी आओ बैठी है बेटी देख भाई मैं थार कने काम आई हूं मारे कने काम हां ओ कई काम पड़ो मैं थार कने आई हूं राज वास्ते ए गेली राधा राज पास ओ धन दौलत सब थारो ये मारे सब ले चाहिए तो आधो राज आधो राज तो भाई अठा को तो मिले कोनी तने अटा उन्हें जरा कटाओ दे ले वो सामर को ये थारे तो सामर को तो थे दो मां बेटे जाओ मत अटा को राज दो नहीं बोई कर अटा को थारा आदमी अटा को नहीं आता अट्टाउ देउनु पर्यो बा सुन मारी बा Punjab. संपत्ति के मायने फायदे बेटा दाता करवा में कोई फायदा तो नहीं ठीक है समझ की बात है बोलो कहीं कहां से हो आप देख देख थारे दो भाई है दूसरा किसका भाई मारा सर्जन अर्जन अच्छा बे मासी जा लड़का हां हां तो भाई मैं दुश्मन कर देता हूं माने और बात थारी मौसी आई है बेटा रास्ता ही हम्म, मांगोड़ा कदी राज मिला है गोचवान मान काई मान पहले तो बताओ कि राज को उधार कौन है खैर मान ली थारी बात के राज को हकदार बड़ो तू ही है तू ही है आपने હે में રાજપૂતામાં કાંઈ दो है सबसे बड़ो लड़को है वो तो राज को हकदार बाकी का पाटा चलाना फिरो फिर मान क्यों बेर विरोध बसा बेटा मैं तो जलमी और बैर विरोध बसावने लग्यो मरु जड़ता है वो बेर बसी और आपकी बात हजार मानू आ बात आपकी नहीं मानू ददो नाम तो पड़ोसी के कोंदरे उन दियो मास्टर के न पढ़ने गयो मैं पहले गयो भाई ददो अक्षर टाल दियो सब पढ़ा दी Oh. কি বলি রে তোমার अरे कहीं रे दो टाइम रोटी खा मो छाती काई वेगी बोल बोल रे छाती का तो छी छी रे अता गुगा करांगा खड़ा कर कड्या सात छोटा गुगा माता जी छातिया कोयला कर कड्या कोयला मतलब आपने से तो इंटा ही रे बज जाओ तू जाने थारो काम बस बाजाओ थे छू छी छी काना होगा सो के पाले